सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय नम नमः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः मंच पर उपस्थित स्वामी शांतात्मानंद जी इस सभागार में उपस्थित स्वामी श्रीकांतानंद तथा अन्य श्रद्धालु सज्जनों माताओं भाइयों और बहनों आज श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम चिंतन करने वाले हैं चिंतन कर रहे हैं और शांतात्मानंद जी ने एक बड़ा दुरू ऐसा कार्य हम पर सौंपा है श्री राम कृष्ण को लेकर सेवा योग का हम चिंतन करेंगे वास्तविक कहा जाए तो जब अवतार आते हैं जब भगवान स्वयं नरल रूप में आते हैं तो कैसे रहते हैं उन्हीं के शब्दों में हमें समझना पड़ेगा ठाकुर कहते हैं कि जब नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों की जो लीला होती है वह ठीक मनुष्य जैसे ही होती है आदमी की तरह ही वह आचरण करना पड़ता है उन्हें इसलिए उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है भूख प्यास रोग शोक यह सभी जो है प्रकृति के धर्म उन्हें अपनाने होते हैं फिर भी वे प्रकृति के परे होते हैं हम प्रकृति के परे नहीं जा सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने बचपन से ही प्रकृति का यह जो मानव ढांचा दिया है इसलिए प्रकृति को बाह्य प्रकृति अंतर प्रकृति को उनको वश करके वे नरलीला करते हैं यदि हमने यह समझ लिया तो ठाकुर या अन्य किसी भी अवतार को जिनको हम मानते हैं उनके प्रति हम शरणागत हो जाते हैं ठाकुर थे त्याग की मूर्ति और इसलिए <clears throat> हम खंडन बहु बंधन की जो आरती गाते हैं उन्होंने स्वामी जी ने कहा है कि वंचन काम कांचन यह जो है अति निंदित इंद्रिय राग त्यागीश्वर हे नरवर देहोपदे अनुराग वह त्यागीश्वर है इस दुनिया का जो भी काम कांचन या लोभ मोह और सभी जो है उनको स्पर्श नहीं करता है और फिर भी वह जानते हैं कि हमारे भीतर कैसे बंधन आ सकते हैं हमें मुक्त करने के लिए वे मार्गदर्शन करते हैं शास्त्रों में भी कहा है न कर्मणा प्रजया न धने न त्यागे नये के अमृतत्व मानसु हो केवल त्याग से ही अमृत प्राप्त होता है और ठाकुर ने इस समय त्याग का अत्यंत विलक्षण ऐसा उदाहरण हमारे सामने रख दिया है स्वयं माँ कहती हैं कि वे धर्म समन्वय जो दिखाई देता है वह गौन बातें हैं मां कहती हैं वे त्यागीश्वर थे उनके जैसा त्याग इस जगत में दिखाई नहीं देता है और वही भगवान अवतार के रूप में हमें उपदेश देते हैं उन्हें सभी धर्मों की उन्होंने साधना की पहले थोड़ा देखेंगे कि उनकी खासियत क्या है ठाकुर की खासियत समझे बिना उन पर श्रद्धा नहीं आती इसलिए मैं आपके सामने कुछ खासियतें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और फिर बाद में स्वामी ठाकुर ने हमें कर्म कैसे करना चाहिए सेवा कर्ता कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे ठाकुर ने कहा इतनी साधनाएं की है आप सब जानते हैं उसका मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा उनकी कि कितने प्रकार की चर्चा साधनाएं की हैं अनेक गुरु उनके पास आए वे किसी गुरु के पास नहीं गए सभी गुरु उनके पास आए और उनसे सभी साधनाएं की भैरवी ब्राह्मणी आई भैरवी ब्राह्मणी से कितने तंत्र साधनाएं वैष्णव तंत्र और ये साधनाएं शैव तंत्र की साधनाएं उन्होंने की और प्रत्येक साधना में उन्होंने एक ही दिन में या दो तीन दिन में सभी सिद्धि प्राप्त की परमात्मा के दर्शन की और फिर बाद में कहा कि जतो मत ततु पथ जितने मार्ग है वह सभी जो है वह भगवान के पाने की मार्ग है संसार के धर्म इतिहास में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई यह ठाकुर की पहली खासियत है और अधिकारवाणी से उन्होंने जो भी कहा है इतना ही नहीं तो जिन गुरुओं ने उनसे साधनाएं करा ली थी साधना की पूर्ति साधना में सिद्धि प्राप्त होने के बाद परमात्मा के दर्शन होने के बाद भैरवी ब्राह्मणी फिर बाद में रामायण पंथी जटाधारी और श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी उन सभी जितने भी गुरु हुए हैं अद्वैता की साधना उन्होंने की है सबको उन्होंने पूर्ण किया है यह भी श्री राम कृष्ण लीला की यह खासियत है भरवी ब्राह्मणी का यह जो संकुचित भाव था उसको दूर करके उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं यह अद्वैत भाव जो भी है वह भी आवश्यक है भरवी ब्राह्मणी नहीं चाहती थी कि यह भक्ति पद से दूर होकर अद्वैत साधना की साधना की किए जाए तो उन्होंने यह सभी कुछ नहीं माना है सत्य का बचपन से ही उन्होंने कहा हम देखते हैं कि जब सात साल की अवस्था में उनकी जो ये हुआ उपनयन हुआ तो भिक्षा माता उन्होंने धनी कांवरानी को कहा कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा घर की जो परंपरा थी उसके वह विरुद्ध था लेकिन उन्होंने शब्द दिया था तो सत्य का आचरण उन्होंने आखिरी तक ये किया और अपने सत्य पर वह अडिग रहे ये सभी जो है वह खासियतें है ठाकुर ने जब ये किया तो उन्होंने जो कहा है वह भी हम अनेक शास्त्रों में नहीं पाते हैं जैसे नित्य और लीला ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है दूसरे ग्रंथों में थोड़ा सा निर्देश आता है लेकिन इस प्रकार का जो छोटे छोटे उदाहरण हमारे सांसारिक जीवन के उदाहरण लेकर दृष्टांतों की सहायता से यह बहुत सरल भाव से समझाना यह इस युग की एक खासियत है भगवान बुद्ध में ने और ईसा मसीह ने भी कुछ उदाहरण अवश्य दिए हैं लेकिन वचनामृत में श्री रामकृष्ण वचनामृत या कथामृत में जो हम उदाहरण पाते हैं उसकी एक अनोखी शैली है दूसरा और हम देखते हैं कि ठाकुर ने जो कहा है कि हम सभी माया में हैं अवश्य लेकिन उन्होंने कहा कि माया के भी दो प्रकार है एक है विद्या माया और दूसरी है अविद्या माया अविद्या माया मनुष्य को बांधती है और विद्या माया मुक्ति का मार्ग दिखलाती है और जो विद्या माया का सहायता सहायता लेते हैं विद्या माया की सहायता तो उसको विद्या माया उसका जीवन जो है तो सात्विक हो जाता है उसे दिखाई देता है कि कैसे मुक्ति का मार्ग अपनाया जाए यह जो ठाकुर की यह देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के सातवें अध्याय में कहा है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे कहा है कि यह माया जो है वो मेरी है जिससे हम मोहग्रस्त हो जाते हैं वह हमें पता नहीं लगता है कि ये दैवी माया है ये भगवान की माया है हमें जो दुख कष्ट भोगना पड़ता है वह भी ईश्वर के कारण होता है ईश्वर की माया के शक्ति के कारण होता है यह समझ में नहीं आता है जब हमें दुख कष्ट जब आर्त हो जाते हैं हम कि नहीं इससे कुछ छूटने का मार्ग नहीं है तब हम भगवान के ईश्वर के शरणापन्न होते हैं अधिकतर लोग जो भगवान के पास आते हैं वह आर्त होते हैं चार प्रकार के जो भक्त बताए हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी तो भरतर्षभ हे भरत हे अर्जुन चार प्रकार के भक्त होते हैं जो आर्त है जिज्ञासु है और अर्थार्थी है जो पैसे के लिए कुछ लालायित होते हैं वह भी भक्त है और ज्ञानी जिनको ज्ञान होगा है तो वो सभी भगवान को कभी छोड़ते नहीं है लेकिन उनमें से जो आर्त है आर्त लोग भगवान अधिक होते हैं भगवान के पास आने वाले उनके लिए यह उपदेश है कर्म तो सभी को करना पड़ता है लेकिन कैसे कर्म किया जाए यह भगवान बताते हैं केवल पंडितों के द्वारा बताने से हमारे मन में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं आता है यह जो हम देखते हैं कि कि दुनिया जो देख दुनिया को हम जब देखते हैं तो उसका मतलब क्या है उसका अर्थ क्या है हम इस सभी चराचर जगत में रहते हैं उसके बारे में उपनिषदकार ऋषि कहते हैं न स्त्री न तम स्त्री तम कुमारसी तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडीन वंचसी तुम जातो भवसी विश्व तो कहा उन्हें कहा उनके वहां दर्शन है उन्होंने कहा कि हे भगवान तुम ही स्त्री हुई हो तुम ही पुरुष हो तुम ही कुमार हो तुम ही कुमारी हो तुम ही वृद्ध जो डंडा लेकर लड़खड़ा रहा चल रहा है वह भी तुम ही हो यह दर्शन ठाकुर का यह दर्शन था ठाकुर सब समय जगन माता का दर्शन प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक स्त्री में करते थे और इसी इसी के कारण उनके उस दृष्टि से हमारे मन में एक प्रवेश हो जाता है कि भगवान छोड़कर और है ही नहीं यह नाम रूप जो है वह बदलने वाले हैं नष्ट होने वाले हैं इस प्रकार का प्रकाश इस प्रकार का ज्ञान ठाकुर का यह वचनामृत कथामृत पढ़ने के बाद हमें हो जाता है ठाकुर ने जो कहा है कि कर्म करो लेकिन अनासक्त भाव से करो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तस्मात कर्म कौन के मुक्त संघ समाचार यह बहुत अत्यंत रहस्यमय रहस्यमय ऐसा श्लोक है यज्ञार्थात कर्म नो यज्ञ से यज्ञ भावना से अन्यत्र जिस भाव से हम कर्म करेंगे वह हमारे लिए कर्म का बंधन हो जाता है यदि यज्ञ जो भी हम कर्म करते हैं उसमें यह यज्ञ भावना न हो ये भगवान के हम कर, ये कर रहे हैं भगवान हमसे करा रहे हैं इस प्रकार की भावना न हो तो वह कर्म हमें कर्म फल के बंधन में बांध देता है लेकिन जब हमारे मन में आता है कि जो भी कर्म की प्रेरणा होती है वह भी भगवान के द्वारा ही हुई है वह कर्म उन्हीं को अर्पण करना चाहिए यह कर्मयोग हो जाता है और यह जब कर्म योग होता है तब फिर बाद में हमारे मन में जो है जो भावना है कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं यह जो अहम भाव हो वह थोड़ा ही कम हो जाता है यह हम देखते हैं कि जीवन में किस प्रकार का कर्म करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नीतम कर्म नीतम कुरु कर्मत्व कर्म जायो ही कर्मण शरीर यात्रा वितते न प्रसिद्धे न कर्मण तू नियत कर ऐसा कर्म कर जो निश्चित करना ही है वह कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना यह बेहतर है फिर कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा शरीर निर्वाह करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है और इसलिए ठाकुर जो कहा है ठाकुर ने कहा कि अनासक्त भाव से कर्म करना यह बड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तस्मा असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमापनोति पुरुष यह अनासक्त भाव से कर्म करना बड़ा कठिन हो जाता है लेकिन उसके लिए भी यह जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायता के लिए आते हैं और वे कहते हैं कि अपने सभी कर्म गृहस्थों को विशेषता वे कहते हैं अपने सभी कर्तव्य कर्म करो किंतु मन को भगवान में लगाए रखो पत्नी बच्चे पिता माता आदि सबके साथ रहो सबकी सेवा करो उनसे ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे अत्यंत प्रिय हो किंतु मन ही मन निश्चित जान रहो जान के रहो कि तुम्हारी वे कोई नहीं यह आखिरी का जो वाक्य ठाकुर ने कहा वे कोई नहीं है मन के मन की जान रहो यह शास्त्र की बात आती है यहाँ शास्त्र का अनुबोधन आता है यहाँ हमारा आज का जो हमारा जो अनुभव है कि सभी चले जा रहे हैं सभी जाने वाले हैं जो भी नाम और रूप में है वह सा नाम और रूप बदलने बदल रहा है और जो बदल रहा है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता है वह परमानेंट नहीं हो सकता है यह समझकर उसमें जो परमानेंट है जो शाश्वत है जो निरंतर रहने वाला है उसकी उपासना करनी चाहिए ऐसा नहीं कहा है कि छोड़कर सभी चले जाओ ऐसा नहीं है लेकिन वह भावना वह वृत्ति जो है वह छोड़नी चाहिए संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर मत रहो नहीं रहना चाहिए ठाकुर का यह प्रसिद्ध वाक्य है जैसे नौका में नौका पानी में पर रहती है लेकिन नौका में यदि पानी चला गया तो नौका डूब जाएगी यह छोटे छोटे उदाहरण है तो इसमें से क्या अत्यंत उदात्त ऐसे तत्व हमारे सामने ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं कहते हैं कि करो काम करो लेकिन वह भगवान की सेवा है भगवान ही हमारे मन में रहनी चाहिए इस प्रकार जो जैसे अभी ज्योतिष ज्योति रूपानंद जी ने कहा कि सब समय भगवान का चिंतन मनन ध्यान यदि नहीं किया तो हमारा जीवन जो है निष्फल हो जाता है भगवान की याद नहीं आती केवल कर्म करने से ही हमारा जीवन सफल नहीं होता है और इसलिए वे कहते हैं कि जैसे संसार में पनडुब्बी की तरह रहो बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं एक प्रकार का पक्षी होता है आप जानते हैं कि जैसा वो जो डुबकी लगाता है किंगफिशर वह ऊर से जाता है बराबर उसको मछली दिखती है मछली को पकड़ता है और चले जाता है उसके पंखों को किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होता पानी से वैसे ही पनडुब्बी होती है वह जो वह पक्षी होता है पानी उसके शरीर को नहीं लगता है वह झटक देती है कीचड़ में रहने वाली पाकाल मछली की भांति संसार में रहो वह मछली कीचड़ में रहती है पर उसका शरीर सदा स्वच्छ बना रहता है लेकिन उसका अभ्यास करना चाहिए मैं जो कह रहा हूं हम अभ्यास नहीं करते इसलिए फिर बाद में हम दुख कष्ट भोगते हैं उसका सब समय जब अच्छे अच्छे दिन रहते हैं सुख में रहते हैं तब भी भगवान का स्मरण मनन होना चाहिए एक दोहा है दुख में स्मरण सब करे सुख में करे न कोय यदि सुख में सुमरन होए तो दुख काय को होए यदि अच्छे हैं तभी हमने साधना करनी चाहिए भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए और जब हमारे मन में सब समय भगवान का स्मरण मनन अच्छे रहते हुए भी रहता है तब कितने भी संकट कितने भी समस्याएं हमारे सामने आए उपस्थित हुए तो हम उससे विचलित नहीं होते हैं ठाकुर अभी कह रहे हैं मैं तुम्हें सच बताता हूं तुम संसार में रहते हो इसमें कोई हानि नहीं है सब लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है किंतु तुम्हें अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखना चाहिए अन्यथा तुम सफल नहीं होगे एक हाथ से संसार के काम करो और दूसरे से भगवान के चरणों को पकड़े रहो जब संसार के कामों को का अंत हो जाएगा तो दोनों हाथों से भगवान की चरणों को पकड़े रहना इसमें हम ऐसा कहेंगे कि जैसे संसार में जब रहते तो एक हाथ से भगवान के चरणों को पकड़े रहो और दूसरे हाथों से कर्म करना चाहिए ठाकुर ने कहा है लेकिन होता क्या है कि हम भगवान को पकड़े रहने के लिए जो ध्यान भजन स्मरण मनन प्रार्थना करनी चाहिए हम भूल जाते हैं वह जब हम करते हैं तो भगवान मन का एक छोर भगवान के श्री चरणों में सब रहता है और फिर बाद में जब रिटायर हो जाते हैं अभी करने का नहीं बहुत लोग आते हैं रिटायर होने के बाद हमारे पास भी आते हैं अभी क्या करें मुझे कुछ काम दीजिए लेकिन सारे जिंदगी में कभी काम नहीं किया ऐसा जैसे मठ में चलता है तो थोड़े दिन से चलकर फिर वहां चले जाते ऐसा क्यों होता है इसका कारण यह है जिस भाव से मठ में काम चलता है जिस बोध से मठ में काम चलता है उससे वो मेल नहीं खाता है क्योंकि जीवन जो है वह संघर्षमय है संघर्ष करना ही पड़ता है लेकिन यह बोध ठीक से नहीं होता है हम नाम यश के पीछे बहुत रहते हैं लेकिन भगवान देखता है कि नाम यश मेरा नाम ले रहा है कि स्वयं का नाम कर रहा है और इसलिए फिर बाद में हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं भगवान श्री रामकृष्ण और कहते हैं गृहस्थ के कर्तव्य है प्राणियों के प्रति दया भक्तों की सेवा और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कीर्तन करना यह गृहस्थ के कर्तव्य है उन्होंने कहा कि जब भी किसी की तीर्थ यात्रा में तीर्थ दर्शन के लिए आते जाते हैं तो जो, जो गरीब है उनको थोड़ा दान देना चाहिए साधुओं को कुछ देना चाहिए ये इसलिए कहा है कि उससे हमारा जो मन है वो उदार होता है पवित्र होता है क्योंकि प्रत्येक में वह भगवान अवस्थित है विद्यमान है वह वे ग्रहण करते हैं और इसलिए हमारे जीवन में यह यदि आया तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा समय तो हो गया ठाकुर और कहते हैं एक या दो संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए केवल भगवान के विषय में ही बातचीत करनी चाहिए ऐसा करने पर दोनों का मन भगवान की ओर आकर्षित होगा और पत्नी पति के साधना मार्ग में सहायक होगी क्योंकि यह यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है यह जानकर ही हमने व्यवहार करना चाहिए ठाकुर के बा, बार बार कहते हैं सभी आचार्यों में सभी संतों ने यही कहा है यह मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है मानव देह बड़ा दुर्लभ है और जिस जिनके जीवन में ये भगवान के प्रति यह उत्कंठा व्याकुलता आती है वे तो बहुत धन्य है बहुत धन्य है आप सभी लोग धन्य है कि जिनने ये ठाकुर के प्रति यह भाव उमड़ पड़ा है बहुत आप बहुत सारे तो दीक्षित भक्त हैं आप धन्य हैं लेकिन उस मंत्र को पकड़े रहकर जैसे ठाकुर ने कहा है कि शरणागत होकर किसी प्रकार का अहम भाव न रखते हुए यदि हमने किया तो जीवन धन्य हो जाता है हमारा मन बदल जाता है परिवर्तित हो जाता है लेकिन वो पकड़े रहने की जो दृढ़ता निष्ठा जो है वह रहनी चाहिए बहुत बार होता है अरे इतने दिन हो गए कुछ तो नहीं हुआ है ऐसे अनेक भक्तों के मन में यह भावना आती है कि तीस साल हो गए चालीस साल हो गए हमने मंत्र लिया है थोड़ा सा भी विकास नहीं हुआ है उन्नति नहीं हुए हैं तो अनास्था आ जाती है इसका कारण यह है कि कारण हम हैं हमने इस प्रकार निष्ठा के साथ अपना जीवन नहीं गठित किया है उस भाव को जो है लेकर फिर बाद में यह हमने जीवन में नहीं ये किया उतारा है इसलिए यह हमारे मन में भाव आता है विभिन्न प्रकार के समस्याएं से और कठिनाइयों से हम ग्रस्त हो जाते हैं और इसलिए ठाकुर वे कहते हैं कि जो मनुष्य मन से सब कुछ त्याग नहीं देता है तब तक भगवान को नहीं पा सकता है अभी गृहस्थान के लिए क्या करना है सभी कुछ त्याग की भावना ठाकुर कहते हैं स्वामी जी और माँ भी कहती हैं गृहस्थों के लिए कुछ सब त्याग करके बाहर नहीं जाना है लेकिन गृहस्थों को त्याग की भावना रख कर अपना जीवन ये करना है मेरे पास जो भी है वह भगवत सेवा अर्थ भगवत सेवा के लिए मैं अर्पण करूंगा महाभारत में भी है महाभारत में कहते हैं तदित एकम कुलस्यार्थे कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे कुल पृथ्वी त्यजित ये त्याग की भावना हमारे क्योंकि हमारी संस्कृति त्याग मूलक है भारत का यह वैशिष्ट भारतीय संस्कृति का यह वैशिष्ट है खासियत है कि यह त्याग पर ही है इसलिए आप देखेंगे कि जहां भी त्यागी सन्यासी है या किसी ने त्याग किया है उसके प्रति हमारा मस्तक जो है अवनत हो जाता है और इसलिए पंडित और सच्चा साधु पुरुष इसमें एक बड़ा अंतर है कोरे पंडित का मन कामिनी कांचन पर ही लगा रहता है किंतु साधु का मन हरि के चरणों में लगा रहता है उसके लिए ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है जैसी मधुमक्खी केवल वह फूल पर ही बैठेंगी मधु मक्खी कभी किसी कीचड़ पर या किसी गंदगी पर नहीं बैठेगी इसलिए हमारा मन मधुमक्खी जैसे होना चाहिए क्योंकि इस जो दिखाई दे रहा है जो नाम रूपात्म है वो जो बदल रहा है उसको हमारा मन उसको अर्पण करने से क्या फायदा है वह तो दुखदायक होगा इसलिए जो नहीं बदलता है जो निरंतर रहने वाला है ऐसे भगवान के ही चरणों में हमारा मन रहना चाहिए इसी भाव से हमें करना चाहिए स्वामी भास्करेश्वरन जो रामकृष्ण मठ नागपुर के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य तो हम जब बहुत ही युवक थे कॉलेज में जाते थे और उनके पास जाते थे तो वो बार बार कहते अरे ये सभी जाने वाले हैं सभी जाने वाले हैं इतना ही नहीं तुम्हारे बाबा तुम्हारी माँ सभी जाने वाले हैं हम जाने वाले सभी जाने वाले हैं केवल ठाकुर ठाकुर ही रहेंगे ठाकुर को पकड़े रहो और उसी से तुम्हारा जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा सभी नाम यश सारा जो सारा जो है वह सभी जो है उसका विलय हो जाएगा केवल ठाकुर रहेंगे वह आनंदमय पुरुष हमारे हृदय में आ बसे सबके हृदय को आनंदित करे कृतार्थ करे ऐसी उनकी शरणों में मैं प्रार्थना करके अपने वाणियों को विराम देता हूँ ओम शांति शांति